खुद भी छत्री होकर रोते छत्राणी को भी रुला रहे वे बात बात को बढ़ा रहे इतनी व्याकुलता दिखा रहे मैं कारण कहला कर अब तक आज्ञा की भूखी थी बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है सीता मन के संकट सहकर उनको यश शासन देती है हे विधना तू जो सच्चा है तो साँच नहीं जाने पाए वे शासन करे कुशलता से उनको न आँच आने पाए देवर सानंद लौट जाओ प्रभु से प्रणाम कहना मेरा साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं वे इस लीला में बेबस हैं सीता सब जगह उन्हीं की है वे ही सीता के सर्वस हैं यह सुनते ही रो उठे तो वे छोटे रघुराय फिर बोले किसका अवध कौन अवध को जाए चौदह वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में रघुनाथ अवध का राज्य करे मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा इन चरणों से के सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा जनता अपना कर्तव्य करे जिससे ऊंचा राजासन हो राजा अपना कर्तव्य करे जिससे जनगण प्रिय शासन हो मैं भी कर्तव्य इधर अपनाऊं कर पाऊंगा इन चरणों पर सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात उचित यही सब भाति है कौशल जाओ तात बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन आदर्श गुणों का हे देवर तुम में यथाह भंडार रहे तुम सच्चे भाई भक्त रहो भाई का तुम पर प्यार रहे इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत हाँ का तो रथ लखन ने किंतु हाँक न जाए शक्तिहीन घोड़े हुए पावन उठते हाय ज्योतिर्मय को बन में तज कर अंधों के नाई जाते हैं आगे को लखन बढ़ाते हैं पर वे पीछे ही आते हैं जब सपत राम के देवन को तब ठीक राम के भक्त हुए इस भक्त भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुबीर बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह का नीर जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़े चौके फिर बोले सिया कहाँ जिसके विराग में प्राण दुखे वही प्राणों के प्रिया कहाँ फिर संभले कहाँ छोड़ आए जो हुआ उचित था या उचित हुआ राजा होने में क्या सुख है यह राजा होकर विदित हुआ लखन भाम लखन भ्रात तुम सखाम तुम प्रिय तुम हृदय आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवतीत दो फूल एक डाली पर थे कुछ खिले हुए कुछ खिले हुए टूटे वे निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए झोंके ने एक वायु ही के कर डाले तितर बितर दोनों पथ ढूंढ रहे अपना अपना हो हो कर इधर उधर दोनों यही दशा है राम की और सिया की तात कहीं रहे कुछ भी करे सुख का गया प्रभात राम की आँखों में हरदम राम रही है जान की राम की आँखों में हरदम रम रही है जान जान के का राम है और राम की है जान की राम की आँखों में हरदम रम रही है जान की जान की का राम है और राम की है जान की कौन कहता है तजा है जान की को राम ने राम की जामे जिगर जब जमी है जान की यह भला चमड़े के पुतले प्रीत तुड़वाएंगे क्या राम को मालूम है उसके सती है जान की शक्ति बन कर प्राण में और ज्योति बन कर आँख भी देख ले आखिर जगत अब भी बसी है जान की राम के आँखों में हरदम रम रही है जान की जान की का राम है और राम की है जान की श्रेष्ठ की वेदी पे मोहन ग्रंथि बंधन एक है श्रेष्ठ के वेदे पे मोहन ग्रंथि बंधन एक है राम तब तक है बना जब तक बनी है जान की राम की आँखों में हर दम रम रही है जान की जान के का राम है और राम की है जान की राम की आँखों में हरदम रम रहे है जान की राम की आँखों में हर दम रम रहे है जान की इधर बंधाए लखन ने जो त्यो प्रभु को धीर उधर सिया के हृदय में उठी बिरह की पीर